ॐ पूर्णमदः पूर्णमय पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चदश अध्याय इसमें श्लोक का कुछ विचार हुआ जिसकी टीका बाकी है थोड़ी श्लोक में कहा था योग जो कोई भी साधक हो एवं माम असमूढ़ यह असमूढ़ जो अज्ञान रहित है जो साधक माम एवं पुरुषोत्तम जानाती माम पुरुषोत्तम पूर्वोक्त प्रकार से पुरुषोत्तम को जानता हो तीन प्रकार के पुरुष लौकिक पुरुष दो हैं क्षर और अक्षर और एक अलौकिक पुरुष पुरुषोत्तम उपाधि विशिष्ट दो हैं पुरुष एक तो लोग लो में शरीरादि विशिष्ट से हैं और एक माया विशिष्ट है माया विशिष्ट को अक्षर पुरुष कहा गया यद्यपि अक्षर तो नहीं है अक्षर का तो अविनाशी होना चाहिए किंतु ज्ञान के बिना नाश नहीं होता लंबी आयु है इसको लेकर अक्षर कहा वाले नाशवान है जो अक्षर पुरुष अक्षर और एक उत्तम पुरुष कहा अक्षर और अक्षर से दोनों से विलक्षण है उत्तम पुरुष जिनमें माया आदि कुछ भी नहीं है कार्य कार्यकार भाव जिसमें नहीं है अक्षर पुरुष है उत्तम पुरुष है महाम उत्तम पुरुषम इत्यादि है मैं जो उत्तम पुरुष हूं ना इस प्रकार जानता हूं जो व्यक्ति पुरुषोत्तम रूप से जानता हूं सर्वविद वही सर्ववेत्ता है सबको जानने वाला सर्वम व्यक्ति सर्वित माने उत्तम पुरुष को जान लिया तो सबको जान लिया एक विज्ञान से सर्व विज्ञान सही है एक का ज्ञान से सबका ज्ञान वो सर्ववेत्ता है न वाम भजती है भारत कहा हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन हर प्रकार से मेरे ही सेवन करता रहता वो तो अवैध भाव में है तो अपनों कभी भूलता नहीं अपने को हर प्रकार से मेरा ही सेवन करता रहता है मेरा ही भजन करता है ऐसा कहा था इसकी टीका है कुछ यथोक्त विशेष हम जो विशेषण दिया था उत्तम पुरुष विशेषण दिया जिसका सर्वात्मत्वादि विशेषण उपेतम जो सर्वात्मा है वो सबका आत्मा है वो सबका स्वरूप है उत्तम पुरुष सबका स्वरूप है बाकी सब उसमें कल्पित है इत्यादि विशेषण से युक्त है यथोक्त विशेषण भाषण में दिया था इसका तो क्या विशेषण है जो सर्वात्मात्व सर्वरूप आदि है वो सबका स्वरूप आदि विशेषण जो दिया गया था पहले वही है सर्वात्मा सर्वंत इत्यादि कहा क्षणाक्षराति तत्व यथोक्त प्रकार है यथोक्त प्रकार ने बोला है जिस प्रकार से यथोक्त प्रकार ने कहा भाष्य में क्या प्रकार है क्षर और अक्षर से भिन्न प्रकार से कहा गया क्षराक्षराति तत्व क्षर अक्षर से अतीत है पृथक है ये यथोक्त तो प्रकार भाषण में यथोक्त तो प्रकार यही है कहा सम्मोह वर्जित आया अज्ञान से रहित होकर के जानता हो कहा हुआ है तो सम्मोह वर्जित माने सम्मोह है ना देहादिशु आत्मीय तो बुद्धिया रहित यही है सम्मोह देहादि में आत्मबुद्धि होना मोह है अज्ञान है आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं है शरीर आदि में आत्मबुद्धि है ये अज्ञान है इससे रहित है वो सम्मोह वर्जित करते यही है कहा भगवंतम जानत तस् तो सर्वात्मना भेदवाद इत्या कहते हैं भगवान को जो जानता हो ना जो उत्तम पुरुष है भगवान उसको जानने वाला क्या होता सर्ववित्ता होता है सबको जानने वाला होता है भगवान को जाना तो सब कुछ जाना संसार के पदार्थ जानने लगेगा तो संभव नहीं है हम अपने परिधि में आसपास जो पदार्थ होंगे उसे जानते हैं तो सारा ज्ञान नहीं होता हाँ मूल का ज्ञान हो गया तो बीज है बीज का ज्ञान हो गया तो सारे वृक्ष आदि का ज्ञान हो जाता है कोई सर्वविद्ता होता है कहा भगवंतम जानता भगवान को जानने वाले हैं सर्ववित्व हो जाता है सर्ववित्ता है वो उसमें धर्म आएगा सर्ववित्व तस्व सर्वात्मना मेहत्वा क्यों परमात्मा ही हर प्रकार से विषय वही होता है परमात्मा ही विषय होता है कैसे भी चले अंतिम वही पहुंचना होता है सर्वविद भजत माम सर्वभाविर भारत ही कहा था यही है सर्वात्मनि मये बस आसत चित्तत्व न सर्वविद क्यों हुआ सर्वभाव न हर प्रकार से मेरे में आसक्त चित्त वाला है आत्मा में आसक्त आसक्त चित्त वाला अन्यत्र नहीं शरीर आदि में आसक्त नहीं है शरीर को तो ऐसा समझता है प्रारब्ध सूत्रम कथितम शरीरम प्रयात व तिष्ठति गोरी वस्त्र ऐसे मानता ये प्रारंभ भी धागा में पैदा हुआ है सूत्र प्रारंभ गुथा हुआ है ये सूत्र प्रारंभ का अधीन है प्रारब्ध सूत्रम सूत्रम धागा उस धागा में गुथा हुआ शरीर है प्रारब्ध सूत्रम कथितम शरीरम प्रयात हुआ तिष्ठति गौरव से चाहे चला जाए चाहे रहे कैसे जैसे गाय के गले में माला होती है वो गाय को कोई, कोई माला चली जाए अथवा रह जाए कोई मतलब नहीं होता माला डाल दी किसी ने गाय की गली में वो माला से क्या लेना देना उसको चाहे अभी चला जाए चाहे कालांतर तक रहे कोई मतलब इसी प्रकार ये शरीर को मानता है वो ये कहा हुआ है आगे ठीक है आगे अध्यायार्थम अनुद्य उपसंहार श्लोकम बताए इस पंचदश अध्याय का अनुवाद करके पूर्वोक्त बातों का अनुवाद कर अब अंतिम श्लोक का उपसंहार करते हैं ये कहना है अस्मिन इत्यादि पूर्वोक्ता इस अध्याय का जो पहले कहा हुआ है उसका अनुवाद है अथ इधानिम यथा निरुक्तम आत्मान जिस प्रकार से कहा गया आत्मा है जिस प्रकार कहा गया आत्मा है यो वेद अच्छा ठीक है भाई अश्विन अध्याय भाष्य में आ गया अश्विन अध्याय इस अध्याय में पंचदश अध्याय में भगवत तत्व ज्ञान मोक्ष फल मुक्त भगवान के जो स्वरूप का ज्ञान है तत्व ज्ञान स्वरूप ज्ञान मोक्ष फल देने वाला होता है यदि आत्मा को समझा अभिन्न रूप से भगवान को समझा तो मोक्ष मिलेगा अस्मिन अध्याय भगवत तत्व ज्ञानम मोक्ष फलम उक्तवा इस अध्याय में ही कहा है कि भगवान के स्वरूप का जो ज्ञान है मोक्ष फल वाला होता है कथन करके अत इदान तत्वती मान भगवान के जो आत्मज्ञान है भगवत के स्वरूप का ज्ञान उसकी प्रशंसा करते हैं ये ज्ञान की प्रशंसा देखो ये ज्ञान होगा तो मोक्ष मिल जाएगा संसार से मुक्ति होगी ज्ञान की प्रशंसा के लिए अंतिम श्लोक है कहते हैं यही है ये कहना है <clears throat> इति गुह्यतम शास्त्रम मया चोक्तम इति गुह्यतम शास्त्रम इदमोक्तम मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान सैत् कृतकृत्य भारत इदम भूय तुम सहस्रम इदम उक्तम मया नघ एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान सैत कृतकृत्य भारत इति इस प्रकार यह समाप्ति का द्योतक है इति शब्द इति शब्द समाप्ति के लिए होता है जब पूर्व प्रक्रम विषय समाप्त हो गया तो इति लगाते हैं इति गुह्यतम अत्यंत गोपनीय है ये शास्त्र मैं ये जो पंचदश अध्याय अत्यंत गोपनीय है कहना चाहते हैं यद्यपि पूरा गीता शास्त्र गोपनीय है समाज में कहने लायक नहीं है अधिकारी को कहना समाज में अधिकारी अनधिकारी हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं एकांत में कहना है गुह संवरण धातु है गुह संवरण ढकना है इसको छिपाने का तत्व है तो प्रचार करने का नहीं है गुहिया क्या प्रत्यय है गुह धातु से क्या करके गुहिया बनता है छिपाने योग्य को गुहिया कहते हैं गोपनीय ऐसे वस्तु है क्यों अनधिकारी को ये उपदेश होगा तो शरीर आदि में आत्मबुद्धि करके उल्टा विरोचन की तरह हो जाएगा शांत में विरोचन की चर्चा है एक ही उपदेश एक तो आत्मबुद्धि में चला गया एक शरीर बुद्धि में चला गया उपदेश एक ही है प्रजापति का उपदेश एक ही है ये सब यह सब अक्षण पुरुषो त्रिशति एक उपदेश था उसी सुनकर वो शरीर को आत्मबुद्धि में चला गया विरोचन इसी को पूजा करो यही करो यही है सब कुछ चारवाक बन गया और इंद्र आत्मवेत्ता हो गया वक्ता केवल शब्द देता है वक्ता का इतना ही होता है शब्द देना एक शब्द नहीं समझा तो दूसरा बदल के देगा कोई भी वक्ता हो घट को नहीं समझा घटा नहीं समझ पाया तो कल ऐसा बोल देगा क्या बोलेगा ये बोले और क्या बोलेगा वक्ता शब्द देता है उसका जो अर्थ होगा श्रोता को अपने ढंग से निकालना होता है समझना श्रोता को है ये घटा माने ये चीज है समझेगा श्रोता समझेगा और सुनने वाले की कहां तक कैसी गति है देहात संसार से विरक्त है अथवा संसार में आसक्त है उसको लेकर के शरीर भाव में भी जा सकता है वो आत्मभाव में भी जा सकता है इसलिए कहते नहीं यह शास्त्र गोपनीय है कहते अत्यंत छिपाने योग्य है प्रचार योग्य नहीं है कहते हैं गुह्यतम अतिशय गो, गोपनीय को गुह्यतम लगाया गुह गुहत्तर गुह्यतम ऐसा होता है अत्यंत गोपनीय है शास्त्र शास्त्रम ये, इदम शास्त्रम का यह शास्त्र अत्यंत गो, गो, गोपनीय है इदम उक्त इदम उक्तम मया अनग मैंने जो कहा है अर्जुन मया उक्तम हे अनग हे निष्पाप अर्जुन अगर माने पाप होता है निकल गया जिसके अगर नहीं है जिसमें उसको अनग कहा जाता है अर्जुन अनग है निष्पाप है पाप रहित है हे अनग इधम इति गुया तुम हम शास्त्र में इधम उत्तम कहा मया मैंने ये शास्त्र को बताया तुम्हें ये तद बुद्धवा इस गोपनीय ज्ञान को प्राप्त करके शास्त्र से सुनने के बाद जो गोपनीय छिपाने योग्य ज्ञान है मैंने अधिकारी भी दे अन्य दे मरुभूमि में बीज डालने से कभी उगने वाला नहीं है उर्वरा भूमि चाहिए बीज के लिए इसी प्रकार निष्काम कर्म निष्काम उपासना के द्वारा जिसके अंतर्गत शुद्ध हो चुके हो चुका हो उसके लिए यह औषध होता है उपदेश अनेक के लिए जहर हो जाता हम्म, पयापानम भुजंगानम केवलम केवलम विषवर्धनम सर्पों को दूध पिलाना केवल जहर बढ़ाने के लिए होता है अमृत बनेगा नहीं वह उसका जहर ही पड़ेगा हम्म, इसी प्रकार अनधिकारी को देने से उल्टा पड़ेगा कि आत्मपाद हो जाएगा क्यों जब अध्यात्म में जाते हैं अंतिम उपदेश होता है आत्मभाव में स्थिति में धर्माधर्म का कर करता है आत्मा में कोई धर्माधर्म नहीं है पाप पुण्य नहीं है ऐसा बोल दिया जाता है उस स्थिति में बोला जाता है किंतु वो समझता है शरीर भाव में समझता है पाप पुण्य नहीं है पुण्य को तो पहले छोड़ा हुआ है अब पाप को छोड़ेगा नहीं आत्मा में करते रहो पाप स्थिति ऐसी आ जाएगी पायपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम बात हो जाएगी सर्प को दूध पिलाना जहर बढ़ाने के लिए है वह अमृत बढ़ाने के लिए नहीं होता अनधिकारी को उपदेश रखता है हो सकता घातक बन जाए इसलिए कहते हैं इति गुहे तमाम शास्त्र में कहा ये गोपनीय शास्त्र है ये शास्त्र पूरे गीता ही गोपनीय है उसमें भी पंचदश अध्याय तो अत्यंत गोपनीय है यहां का उपदेश सबके सामने करने वाला नहीं लायक नहीं कहा इदम गुहत मम अनरह इदम मया उत्तम हे अनरह हे निष्पाप अर्जुन मैंने तुमने कहा तुमको कहा ये तद बुद्धवा इसको जान करके बुद्धिमान शायद वही बुद्धिमान वही होगा इसको समझ करके इस शास्त्र के अर्थ को समझकर या जो कुछ कहा उसको समझकर वही बुद्धिमान कहा जाता है और बुद्धिमान मात्र नहीं कृतकृत्य से वार्ता कृतम कृत्यम एन कृत्यम कृतम एन जो करना योग्य था कर लिया जिसने ऐसा हो जाता है आत्म परो लाभ आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है तो आत्मलाभ एक उपदेश से हो रहा है इतना जानने के बाद में कृत्यम मैंने कार्यम कर्तव्यम कृतम ये कर लिया जिसने उसको कृतकृत्य कहा जाता है अब करना कुछ बाकी नहीं रहा ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है आत्मभाव में पहुंचने के बाद करना कर्तव्य समाप्त है नौका पार हो गया साधन की जरूरत है नहीं कर्तव्य है कि वहां पहुंच गया अपने स्थान पर तो आत्मभाव में पहुंचने के बाद कर्तव्य है कोई शेष नहीं बचता इसलिए कृतकृत्य हो जाता है जो कर्तव्य था कर लिया जिसने हर स्थिति में होता है वो भारत ऐसा होता है यह भारत कहा से आत्मा हो ऐसा हो जाता है ये कहा हुआ है तो ज्ञान की स्तुति है जिसको समझ करके स्थिति हो जाती है कृतकृत्य हो जाता है बुद्धिमान हो जाता है इत्यादि इति गुह्यतम शास्त्र कहा था इति माने तत् पूर्वोक्त जो है पूर्व में जितने कहा हुआ उपदेश है शास्त्र जन उपदेश गुह्यतम गुप्ततमम कहते हैं गोपनीय गुह धातु संवरणार्थ था गुप्त धातु रक्षा अर्थ में रक्षा करने योग्य है सभी को देने योग्य नहीं है शास्त्र क्यों अधिकारी नहीं अनधिकारी है जब उल्टा न हो जाए ठीक है संसार से बिल्कुल विरक्त तो होगा उसी के लिए होता है उपदेश अध्यात्म उपदेश उसके लिए है संसार चाहने वाले के लिए स्वर्ग आदि की चर्चा करो उनके लिए लोक लोकांतर की चर्चा करो उसके लिए कुछ काम करेंगे फल चाहते हैं संसारी फल चाहते हैं वो देखो सभी औषध एक माने एक ही रोगी को सभी औषध नहीं दिया जाता रोगी के आधार पर दवाई दी जाती है डॉक्टर बहुत कुछ जानता है किंतु तो जैसा रोगी आया उस ढंग लिखता है इस प्रकार यहां भी उपदेष्टा को उपदेश के तरीका अलग अलग है कहीं सगुण साकार को उपदेश देना होगा अधिकारी जैसा होगा कहीं सगुण निराकार को उपदेश देना होगा हम्म, और कहीं निर्गुण निराकार ये उपदेश जो है निर्गुण निराकार का है तो सगुण साकार वाले के लिए काम नहीं आएगा और सगुण निराकार वाले के लिए काम नहीं आएगा यहां तो निर्गुण निराकार का उपदेश है संसार से बिल्कुल विरक्त हो स्थिति हो अपने पूरे के पूरे प्रारंभ एक दिन छोड़ दिया हो अथवा ईश्वर का दिन छोड़ दिया हो जीवन की जितनी भी है उसके लिए होता है वैराग्य शतक में एक जगह आया है का चिंता मम जीवने यदि हरे विश्वम भरो गीयते नोचत अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरेत इत्यालोच्य मुहूर् मुहूर् यदुपते पते केवलम तत्पादाबुज सेवन सततम कालो मया दीयते भरतृहरि ने भरतृहरिजी ने वैराग्य सतम लिखा है माने एक सामने एक जीव, जीवन संबंधी चिंता होती है कैसे हमारा गुजारा चलेगा योगक्षम की कुछ करना चाहिए सांसारिक कुछ काम करना चाहिए नहीं तो जीवन कैसे चले ये भावना आती है भरतीर का आवश्यकता नहीं है यदि भगवान का नाम विश्वंभर है विश्वंभर में सबको विश्व को भरण पोषण करने वाले को विश्वंभर कहा जाता है कि सबका भोषण भरण पोषण करते हों तो क्या मेरे नहीं करें क्या सबके अंदर मैं नहीं हूं क्या सबके अंदर मैं भी आता हूं का चिंता मम जीवन मेरे जीवन में क्या चिंता है यदि हरि यदि भगवान विश्वंभर होगी यते विश्वंभर शब्द से यदि कथित होता है भगवान विश्वंभर में विश्वम विभर्ति विश्व मैंने सर्व सारा संसार को भरण पोषण जो करता है उसको विश्वम्भर बोलते हैं यदि भगवान विश्वम्भर हैं तो मेरे जीवन के लिए क्या चिंता विश्व के अंतर्गत तो मैं भी आता हूं ना मुझे क्या चिंता है यदि न हो भगवान विश्वम्भर तो नाम ही रख दिया हो किसी के नाम ऐसा होता है तो ऐसा चलता है तो नाम ही नाम कहते हैं ऐसा नाम ही नाम नहीं है विश्वम्भर है वो नोचेत यदि विश्वम्भर न होता परमात्मा अर्भक जीवन आय जननी स्तन्यम कथम निसरेत वो बालक अभी भी पैदा हुआ बालक को अर्भक बोलते हैं उसके जीवन के लिए माता के स्तन से कैसे दूध निकलता उसी काल में निकलता वो दूध पहले नहीं निकलेगा बच्चा जब अन्न खाने लगेगा फिर बंद हो जाएगा यदि भर न होता परमात्मा तो उस बालक के लिए जीव, जीवन के लिए बालक के जीवन के लिए जीने के लिए जननी स्तन्यम जन स्तन में होने वाले को स्तन्य बोलते हैं दूध को स्तन्य बोला जाता है स्तन है मांसपिंड है उसमें आने वाला स्तन्य शरीर शरीर सूत्र से प्रत्यय लगा दिया कथम निस्तरित कैसे निकलता हो दूध यदि विश्वभर परमात्मा होता जरूर है मुझे विश्वास है विश्वभर है नहीं तो बालक के लिए बालक कोई अन्न खा नहीं सकता उस समय अभी पैदा हुआ बालक कुछ नहीं ले सकता दूध भी ऐसा दूध चाहिए हम गर्म करके पिलाएंगे तो जी नहीं सकता वो उसका एक अनुपात होता है इतनी मिठास इतने गर्माइश ऐसी स्थिति का दूध बताए और पीने का साधन इतना नरम ऐसी स्थिति है इस तरह से दूध देते हैं दो दिन पहले निचोड़ो उस स्तंभ को कुछ आने वाला नहीं है ज्यादा करेंगे खून आएगा और बच्चे का जब दांत आएगा रोटी खाने योग्य हो गया उसके बाद दूध बंद हो जाता तो परमात्मा है यहां मैं दृष्टांत देखा मैंने मुझे सत्य है मानता हूं बोलते हैं भरतृ का चिंता मम जीवन यदि हरि विश्व भरोगी नो चेत यदि न हो चेत मान यदि न हो भगवान विश्वभर न हो तो अर्भक जीवन आय जनने स्तन्यम कथम निश्चरित उस बालक के जीवन के लिए वो माता के स्तन से दूध कैसे निकलता ये देख करके इत्यालोच ऐसा देख करके पूरा विश्वास होता है भगवान विश्वभर है इत्यालोच भूर भूर बार बार इसको विचार करता हूं मैं विचार करके इस बात को हे हेतुपते हे लक्ष्मी हे हेतुपते पते केवल केवल त्वत्पादान कुछ सेवन है आपके चरण कमल के सेवन के द्वारा ही कालो बयारियते मेरे द्वारा काल कालक्षेप किया जाता है समय आयु पूरी की जाती है आपके चरण कमल के से ऐसा बोलते हैं ऐसा विश्वास हो जिनको संसार के विषय में आसक्ति रही तुम तो। परमात्मा में आसक्ति हो योगक्षम संबंधी भगवान के घटाते में डाल दे भगवान जैसा करेंगे वैसा करेंगे और जो हमारा होगा वो दूसरा ले नहीं सकता और जो हमारा नहीं होगा कितने प्रयत्न करो मिलने वाला नहीं है ठीक है जो हमारा होगा कोई लेना जैसे दुख हमारा है हमें पाप कर्म करके आए तो हमें दुख मिला वो दूसरा ले नहीं पाता वो हमारा ही हमारे पास ही रहेगा वो यदि हमने पुण्य कर्म किया होगा तो सुख मिलना होगा तो हमारे पास ही रहेगा और कहां जाएगा प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवो भी तम ही तुम न सकता तस्माद न सोचा भी न विस्मयो में यद अस्मदीयम नहीं तत्परेशान ये मनुष्य अपने प्राप्तव्य होगा प्राप्त करने योग्य होगा अपना कर्म के आधार पर पूर्व कर्म पूर्वकृत कर्म के आधार पर प्राप्त करने योग्य जो होगा वो विषय प्राप्त करेगा प्राप्तव्य अर्थम विषयम प्राप्तव्य जो अर्थ है लभते मनुष्य मनुष्य प्राप्त करेगा उसको दैवोपितम गई तुम उनसे भगवान उसको काट नहीं सकते उल्लंघन नहीं कर सकते जो तो जिसका जो प्राप्तव्य होगा धर्म आधर्म के आधार पर प्राप्तव्य होना है इसको प्राप्त होना है उस विषय को काट नहीं सकता कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता तस्मात न सोचा मैं न विस्म इसलिए मैं शोक भी नहीं करता हूं सोचता भी नहीं हूं न आश्चर्य भी नहीं होता कैसे होगा जीवन कैसे कटेगा नहीं यदस्पदीयम नहीं तत्पर तो हमारा होगा वो दूसरे का नहीं हो सकता इसमें विश्वास करके रहता हो भगवान के शरण में रहता हो उसके लिए उपदेश होता है शास्त्र अध्यात्म शास्त्र का उपदेश उसी के लिए है ये कहते इति एतद गुहतम का इस प्रकार जो गुहतम है अतिशय गोपनीय ये शास्त्र है समाज में देने लायक नहीं है विशेष अधिकारी को देने के लायक है ये जो संसार से विरक्त है उनके लिए गुप्ततम कह दिया गुहतम का था अत्यंत रहस्यम कहते हैं रहस्य माने एकांत होता है ना एकांत को एकांत में बताने वाला माने सामने एक ही हो अन्य न हो ऐसी स्थिति में कहने लायक है ये ऐसे है रहस्यम का गोपनीयता है ये जो इतनी गुहतम प्राप्त इतना हो गया आगे किम तद गोप्यतम क्या है प्रश्न शास्त्र ये शास्त्र शास्त्रित शास्त्रम उपदेश जो शासन है ना शास्त्र का शासन उपदेश है इदम कुरु इदम मा कुरु दो प्रकार के ये करो ये पथ करो दो ही होता है ऐसा करो ऐसा मत करो सारा उपदेश दो ही होते हैं बस कुछ करो या न करो दो ही बात होते हैं किम तत्का शास्त्रम इधि गुहत शास्त्रम सासु अनुष्ठ धातु है ना टर्न प्रत्यय करके शास्त्र बनाया जाता है शास्त्री थी शास्त्रम शासन करता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा न करो यह शासन है शास्त्रम यद्यपि गीताख्यम समस्तम शास्त्र में यद्यपि गीता नामक पूरा शास्त्र है अष्टादश अध्याय पूरा इत्याय क्या है शास्त्र है सब शासन ही कर रहे हैं हमारे जैसे जीवों के लिए शासन कर रहे हैं ऐसा चलना ऐसा नहीं चलना इत्यादि पूरे शास्त्र है शासन करते हैं मेरे कानून है ये बनाया हुआ भगवान का बनाया हुआ कानून है ये शास्त्र होते थे तथापि फिर भी इस अध्याय को विशेष रूप से शास्त्र बोलते हैं इदम गुहतम इदम शब्द सन्निकृष्ण वाचक है यहाँ इदम गुहतम शास्त्र बोल रहे हैं इति गुहतम शास्त्र तो ये तथापि कहते फिर भी ये अध्याय जो है ना पंचदश अध्याय जिसको पुरुषोत्तम योग कहते हैं पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदश अध्याय बोलते हैं अयमेव अध्याय इसी अध्याय को यह शास्त्र में यहां पर इसी अध्याय को शास्त्र कहा जा रहा है यद्यपि पूरा गीता शास्त्र है उपदेश है सभी द्वितीय अध्याय से लेकर के अष्टादश अध्याय तक पूरा उपदेश ही उपदेश है शासन करता है शास्त्र हमारे ऊपर तो फिर भी इस अध्याय को यहां शास्त्र शब्द से ही है मैंने यहां पर शास्त्र उच्चते शास्त्र कहा जाता है इसी अध्याय को कहते कहते प्रशंसा के लिए प्रकरण प्रकरण या प्रशंसा की प्रकरण है क्यों उत्तम पुरुष की प्रशंसा हो रही थी इसलिए सर्वो ही गीता शास्त्र शास्त्रार्थो अस्मिन अध्याय समासन हो न केवल देखो भाई यहाँ केवल गीता के समस्त गीता के शास्त्र का संक्षेप से अर्थ इस अध्याय में बताया गया इतने मात्र नहीं वेद के अर्थ भी बताया हुआ है केवल गीता के ही अष्टादश अध्याय गीता के जो सारांश है इस अध्याय में बताया इतने मात्र नहीं समझ रहा वेद के अर्थ भी यह प्रकाशित किया है ये कहते हैं सर्वो ही गीता शास्त्रार्थ सबके सब गीता शास्त्र जितने भी हैं पूरे के पूरे अष्टादश अध्याय अस्मिन अध्याय इस अध्याय में समास मान संक्षेप है इस अध्याय पंचदश अध्याय में संक्षेप से उक्त हो न केवल केवल कहा इतना ही मात्र नहीं समझ रहा पूरे गीता का अर्थ है इसमें संक्षेप से पूरा कह दिया इतने मात्र नहीं और भी है सर्वस्व वेदार्थ यह समाप्त करता सारे वेद का अर्थ भी यहां समाप्त हो गया है इसी अध्याय में कहा पंचदश अध्याय में वेद का जो विषय है वह भी यहां समाप्त हो गया कहते हैं किस शब्द से समाप्त किया स्तम वेद सवेद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक में बोला था पूर्व मूल बद शाख मत्सत्व प्राउरभ्यम छंदांश प्रवाणी स्तम वेद सवेद स्तम वेद मूल के सहित संसार वृक्ष को जो जानता हो मूल परमात्मा ऊर्धमूल और संसार वृक्ष को जानता हो एक त्यागने के लिए ग्रहण के लिए सब भी वेदार्थविद वही है वेद के अर्थ को जानने वाला वही है संपूर्ण वेद का अर्थ भी प्रथम स्वरूप में निर्दिष्ट कर दिया है ठीक है और वेद से सर्वे रह को तो वेद्य बोले सारे चारों वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही होता हूं करके परमात्मा ने यह भी बता दिया पंद्रहवें श्लोक में बता दिया था वेद से सर्वे रह मैं वेद्यो वेदांत वेद भी देव साहब इत्यादि कहा था तो वेद का अर्थ भी यहां प्रकाशित है कहते हैं इति च उत्तम ये भी कहा केवल गीता के संपूर्ण गीता का सारांश इस अध्याय में बताया मात्र में समझना संपूर्ण वेदों का अर्थ भी बता दिया है इसलिए विशेष है अध्याय पंचदश अध्याय इसलिए महात्मा लोग भोजन के समय में परमात्मा का नाम लेते हैं पुरुषोत्तम अध्याय का पाठ करते हैं कारण यह है विशेष है करना तो चाहे पूरे गीता के पाठ करना चाहिए किंतु समय का अभाव हो जाता है कलयुगी यहां लोग कम से कम पंचदश अध्याय का पाठ करें इसके लिए केवल कहना तो यह नहीं कि पंचदश अध्याय मात्र का ही पाठ करें ऐसा नहीं पूरे गीता करने चाहिए किंतु नहीं कर सकता हो तो पंचदश अध्याय का कम से कम याद करेंगे माने जो कुछ भी आया है भगवान खाने वाले नहीं है लेने वाले नहीं है उनको याद करने से तुम्हें फल होगा बात इतनी है जीव इतना संकीर्णता जीव में है यदि मंदिर पर भोग लगा देते हैं और वहां थाली गायब हो जाए तो दूसरे दिन भोग लगा ले रही है वहां आटा चावल निकाल सब घीन करके निकाला हुआ कितने हम आदमी है खाने वाले भगवान के लिए निकालता नहीं वो पहले यहां से इतना से चतुराई है उसकी फिर भी ले जाके थोड़ी देर रखते में क्या आपत्ति तुम्हें याद करो थोड़ा खाना तुमने ही है जो भी उपभोग तुम नहीं करना उसका वो नहीं करने वाले न देवा कारण दिनों दृष्टवाही वो ही तृप्यंती वो तो देखकर ही तृप्त होते हैं आपको मनोभाव से तृप्त होते हैं भगवान मनोभाव एक इदम उक्तम कथितम मया ये जो कहा हुआ है ना इसमें जो उपदेश दिया गया इधम ज्ञानम यह ज्ञान का उपदेश है यहां आत्मज्ञान का उपदेश है तो इदम उक्तम कथितम इधम उक्तम मया नगर कहा है इति गुयत मम शास्त्रम इधम उक्तम मया नगर हे अनग मैंने कहा मया हे अनग हे अपाप अनग का था पाप जहां पाप न हो उसको अगमय पाप न बीत अवो यशमें सा अनग जिसमें पाप नहीं है उसको अनग कहा जाता है निष्पाप अर्जुन ने कहा यद शास्त्रम यद बुद्धवा बुद्धिमान से आया उत्तरार्ध में यद मत मतलब शास्त्र इस शास्त्र को इस, उपदेश को यद मत मतलब शास्त्रम यह शास्त्र को यथादर्शितार्थम जिसका विषय दिखाया है भगवान होते हैं विषय निर्विशेष भगवान विशेष रूप से विषय होते हैं बुद्धवा इसको जान करके बुद्धिमान से आद वो बुद्धिमान होगा वो व्यक्ति जानने वाला बुद्धिमान कहा जाए बाकी बुद्धि ही न सारे बुद्धिमान से आद मैंने भवेत से आद कर भवेत बुद्धिमान हो अन्यथा यदि इस, इसको नहीं जानता तो बुद्धिमान नहीं होगा अन्यथा ना अन्यथा अन्य प्रकार से बुद्धिमान नहीं हो सकता ना अन्यथा अन्य प्रकार से बुद्धिमान नहीं हो सकता बुद्धिमान इसी को जानकर के होना है ये जो पूर्वोक्त ज्ञान कहा हुआ इस शास्त्र में इसको जानकर ही बुद्धिमान होगा केवल बुद्धिमान नहीं कृतकृत्य स्वार्थ कहा हे भारत हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन कृतकृत्य भी हो जाता है कृत्यम माने कार्यम कर्तव्यम कृतम एन कर्तव्य जिसने पूरा कर लिया आत्मलाभ होने के बाद कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहता जब तक आत्माभाव आत्मभाव न पहुंचता तब तक कर्तव्य होता है कृतकृत्य स्वार्थ का कृतम कृत्यम मन कर्तव्यम ये न जिसने कृत्य को कर लिया कृत्य माने कर्तव्य कर्तव्य है अच्छा ये ना जिसने जिसने कर्तव्य कर लिया उसको कृतकृत्य कृतकृत्यम से आता है उसे आप सकृतकृत वही व्यक्ति कृतकृत होता है जिसने आत्मा को जान लिया यहां का उपदेश आत्मा संबंधी है वही कृतकृत कर्तव्य किया हुआ होता है विशिष्ट जन्म प्रसूत है देखो भाई चौरासी लाख में बहुत सारे जन्म हैं विशिष्ट जन्म मनुष्य जन्म माना जाता है यहीं पर जानने की संभावना है अन्यत्र केवल भोग भोगना ही है या वो भोग भोगना तो पशुओं के समान यहां भी है सब कुछ होता है जैसे वो करते हैं व्यवहार यहाँ भी वैसे व्यवहार होता है आहार निद्रा भाई भाई सुनम च समान में तो पशु नाराणाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेष हो धर्मेण ही ना पशु भी समान नीति शास्त्र में से बताया है आहार खान पान अपना अपना सबका पशु का मनुष्य का सबका है चौरासी लाख जो में सबका खान पान होता है अपने ढंग का होता है प्रकार भिन्न भिन्न है कि तो खान पान सबका होता है आहार निद्रा निद्रा भी सबका है भय सबको भय होता है पशुओं को मनुष्य सभी को ये मात्र भाई सब हाँ। मैथुन क्रिया भी सब करते हैं संतान सब उत्पन्न करते हैं सभी में है ये प्रक्रिया भिन्न होगी बात इतनी है समान में तो पशु भी नारायणाम पशुओं के साथ मनुष्यों को कोई विशेषता नहीं समान है सब यदि पशुओं से विशेष होना हो तो क्या है धर्मो इतेषाम अधिको मनुष्याणाम धर्म विशेष है धर्म ही ना पशु भी समान जो धर्म से रहित हो वो पशु के समान है वो बाकी संसारी काम तो जैसे वो कर रहे हैं वैसे तुम करो क्या विशेषता तुम्हारे में आहार निद्रा भय भयतुन आदि वो भी करते तुम भी करते हो इसमें विशेषता नहीं है ऐसा कहा गया है तो कहते ए विशिष्ट जन्म प्रसूत है जो विशिष्ट जन्म में उत्पन्न है मानव मानव शरीर में उत्पन्न है जो विशिष्ट जन्म है अन्य जन्म विशिष्ट नहीं हो पाते केवल वो भोगने के लिए यहां वो भोगता हुआ आगे के लिए कुछ कर सकता है विशेष प्रसूत ब्राह्मण ना माने मनुष्य को विशेष ब्राह्मण कहा गया क्यों जन्म से उसके पास में समोदमस्तप तप शांति ज्ञान विज्ञान वास्तिकम ब्रह्म अष्टादश अध्याय को देखे उसको जन्म से प्राप्त है समाधि साधन अन्य जाति के लिए जन्म से नहीं है बाद में अर्जन करना पड़ेगा समाधि जो इंद्रिय दमन कर रहा है मन सम होना ये जन्मजात प्राप्त होता है ब्राह्मण को इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण विशेष बोलते हैं यही है विशेष जन्म प्रसुत है ब्राह्मण है ना जो विशिष्ट जन्म प्रसुत में जन्म है मनुष्य जन्म है उसमें ब्राह्मण हो यद कर्तव्य जो कर्तव्य होगा उसका तत्सर्वम भगवत तत्व विधि कृतम भवे का सारे के सारे कर्तव्य जितने भी कर्तव्य होते हैं भगवान के स्वरूप जाने पर वो किया हुआ होता है कर्तव्य किया हुआ हो जाता है भगवान के स्वरूप जान लिया तो सारे कर्तव्य किया हुआ होता है न तो अन्यथा अन्य प्रकार से सारे कर्तव्य किया हुआ नहीं हो सकता न तो अन्यथा कर्तव्य परिसाम पर दे दिया भगवान के स्वरूप को जब तक नहीं समझता है तब तक कर्तव्य की समाप्ति होती नहीं एक करो तो दूसरा खड़ा हो गया दूसरा करो तीसरा खड़ा हो गया ऐसे चलता रहेगा कश्यचित किसी का भी कर्तव्य समाप्त तो तब तक नहीं होता जब तक भगवान के स्वरूप का जानकारी नहीं होगी भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया आत्मभाव से हम तो ज्ञान होगा तब कर्तव्य की समाप्ति है ठीक है यही प्राय कहा क्यों ज्ञान में सारे कर्म ज्ञान होने पर सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं इसी में चतुर्थ अध्याय बोल के आए थे सर्वकर्मा खिलम पार्थ ज्ञाने पर ही समाप्त थे सारे कर्मों का समाप्ति कहां होती है ज्ञान में जाकर के सारे नदियों की समाप्ति कहां होती है समुद्र में इसी प्रकार सारे कर्मों का समाप्ति कहां ज्ञान और वर्ग कर्म की आवश्यकता नहीं समापन हो गया समाप्ति हो जाती है शत्रु तथ्य बोल के आए सर्वम कर्म अखिलम अखिलम कर्म सर्वम कर्म संपूर्ण कर्म ज्ञान परिसमापित ज्ञान और पर ही समाप्त होता है ऐसा बोलते आए और मनुस्मृति में कहा कहते हैं ये तद्धि जन्म सामग्रम ब्राह्मण से विशेषतः प्राप्य तत्कृत कृत्यो ही द्विजो भगवती नाम था कहा ये तथि ये जो ज्ञान है ना ज्ञान भगवान के तत्व ज्ञान स्वरूप ज्ञान हम ब्रह्मास्म ज्ञान है जन्म सामग्री यही ज्ञान जन्म की सामग्री है माने मोक्ष के साधन यही है ज्ञान है ब्राह्मण से मनुष्य में भी जैसे आगे द्विजा शब्द आया दो जन्म होने वाले जो होते हैं इनमें भी मनुष्य ब्राह्मण श्रेष्ठ का ब्राह्मण से विशेषता का यही आत्मज्ञान प्राप्त करना ही ब्राह्मण की श्रेष्ठता है यदि ब्राह्मण होकर भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सका और ये इसकी निंदा है ब्राह्मण शरीर में अन्य शरीर ने यदि प्राप्त किया तो नहीं है वो क्यों इसके पास समोदम आदि पहले जन्म से है अन्य के पास नहीं है स्थिति ऐसी है ये तद्दी जन्म सामग्रम ब्राह्मण विशेष रूप से ब्राह्मण का इसमें ये जन्म का सामग्री ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्य तत् इसी को प्राप्त करके एतद ज्ञानम प्राप्य इस ज्ञान को प्राप्त कर कृत्य कृत्य हो ही माने इस बात कृत्य कृत्य हो जाता है करना कर्तव्य विशेष नहीं गया जिसका द्विजो भगवतनाथ द्विजन्म जितने होते हैं एक ज्ञान प्राप्त करे कृत्य कृत्य हो जाते हैं अन्य प्रकार नहीं हो सकते मृत्यु में से कहा एक कहा इसलिए मानवम वचन मनु संबंधी वचन को मानवम कहा हुआ है मनु संबंधी वचन है मनु शब्द से अणप्रत्यय लगाएंगे तो मानव बन जाएगा मनु के वचन है कहा यथा तत्त परमार्थ तत्व ये जो परमार्थ तत्व है जो ज्ञान है आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं मत्त श्रुतवान असे मेरे से तुमने सुना है तुम सुने हुए हो मेरे से तुम सुने हुए अर्जुन ये बोल रहे हैं मत्त मेरे से श्रुतवान से सुने हो तथा कृतास्थ तुम भारत का तुम कृतार्थ हो तुम्हारे संपूर्ण मत प्रयोजन सिद्ध कर लिया अर्थ मान प्रयोजन कृता प्रयोजन यह होगा जिसने प्रयोजन सिद्ध कर लिया उसको कृतार्थ कहते हैं और प्रयोजन कोई बचा नहीं जिसका तो हे भारत हे भरत वंश उत्पन्न अर्जुन कहा इनके पूर्वज भरत थे दुष्यंत राजा का पुत्र जो भरत जिसके नाम से भारतवर्ष कहलाता है बहुत पराक्रमी थे वो राजा चंद्रवंश में उन्हीं के नाम से अर्जुन को भारत कहा भारतवंशी कहा इसलिए भारत कहा गया पूर्वज भरत है ये कहा <clears throat> टीका से देखना है सर्वस्याम गीतायाम शास्त्र शब्द वक्तव्य है कथम अस्मिन अध्याय तत्प्रयोग सियाद इतिहास प्रश्न होगा पूरे गीता में शास्त्र शब्द का प्रयोग करना चाहिए गुह्य तमाम शास्त्रम में पूरे गीता के लिए कहना चाहिए ये सब उपदेश है सारे शास्त्री शास्त्र उपदेश देता है शास्त्र कहा जाता है इसको तो पूरे गीता उपदेश परक हैं तो सर्वस्याम गीता है संपूर्ण गीता में शास्त्र शब्द वक्तव्य शास्त्र शब्द का कथन करना चाहिए पूरे गीता को उस स्थिति में कथम अस्मिन अध्याय तत्प्रयोग इस अध्याय में शास्त्र शोधक प्रयोग कैसे कर दिया इति गुया तुम शास्त्र ये कैसे बोल दिया केवल इस अध्याय को शास्त्र तम कैसे बोला सभी तो शास्त्र है या उपदेश है तत्प्रयोग का कथम से यही है कैसे उसका प्रयोग हो गया शास्त्र शब्द ग्रहण करने पर कहते यद्यपि इत्यादिवासी में कहा था यद्यपि गीताख्यम समस्तम शास्त्र उचित यदि गीता नामक जो है ना पूरे के पूरे अष्टादश अध्याय विशेष का द्वितीय अध्याय से अष्टादश अध्याय तक सप्तश अध्याय ये शास्त्र है सारे यद्यपि शास्त्र है सब शास्त्र कहा जाता है तथापि लगा दिया फिर भी तथापि अयमेव अध्याय यह शास्त्र में दूषित है यहां पर इसी अध्याय को शास्त्र शब्द से कहा जाता है पंचदश अध्याय को शास्त्र शब्द कहा जाता है यहां स्तुत्यर्थम प्रकरण प्रकरण है तुति का है इसलिए तुति के लिए कहा यह शास्त्र ऐसा शास्त्र है ऐसा कहना सनहितम अध्याय अभी अभी जो अध्याय में हम बैठे हैं समीप में है जो अध्याय सनहितम अध्याय स्तोतुम अपनी कुतस तत्र शास्त्र शब्द बाबा तत्र कहते देखो सनिहित अध्याय मैंने वर्तमान जो चल रहा है अध्याय अभी भी नजदीक में जो अध्याय है स्तोत्रों इसको तुति के लिए आपने शास्त्र बोल दिया हो कुतस तत्र शास्त्र शोध तो प्रयोग सनिहित है नजदीक है ठीक है अध्याय होने पर भी मैंने इतिहास पूर्वक परामर्श कर रहा ये जो ऐसा बोल रहा है ये शास्त्र गुहतम शास्त्र का तत्र शास्त्र शब्द कैसे सन्नीहित नजदीक है अध्याय जहां बैठे हैं फिर भी शास्त्र शब्द का प्रयोग कैसे हुआ यहां तदर्थाभाव तो शास्त्र को अर्थ आ आई नहीं शासन तो है नहीं कोई ये शंका आ गई तत्र उसके उत्तर कहते हैं सर्वो ही कहा सर्वो ही गीता शास्त्रार्थो असम अध्याय समासे से उत्तो न केवलम इस अध्याय में संपूर्ण गीता का विषय जो है संक्षिप्त से कहा हुआ है केवल इतना मात्र नहीं वेद के अर्थ को प्रतिपादन किया यहां बोलते हैं केवल गीता के अर्थ को यहां संक्षेप में कहा इतनी बात नहीं वेद के अर्थ को बताया यही बोलते हैं सर्वो ही मानी अस्मात सर्वो गीता शास्त्र अर्थ गीता शास्त्र जो है ना उसका जो विषय है वह अस्मिन अध्याय समाज से तो न केवल केवल यही कहा यह बात नहीं समाज संक्षेप में इस अध्याय कहा इतनी बात नहीं इतनी मात्र नहीं सर्वस्व वेदार्थ यह परिसमाप्त का सारे वेदों का विषय भी यहां समाप्त हो जाता है क्यों वेद को लेकर के दो श्लोक में बोल दिया यहां पंचदश अध्याय में सवेद विद इत्यादि एक और वेद से सर्वेद में इत्यादि टीका होगी गीता शास्त्रार्थ सर्वस्व अत्र संक्षिप्त होता गीता गीता जो शास्त्र है ना शास्त्र करने वाला जो विषय है शास्त्र का विषय का सर्वस्व संपूर्ण विषयों का यहां संक्षेप है इस अध्याय में पंचदश अध्याय में तो एवं केवलम शास्त्र शब्दों न भक्ति इतने मात्र से शास्त्र नहीं कहा जाता इस पंचदश अध्याय को गीता का तो संपूर्ण विषय यहां पर संक्षेप में कहा गया है इसलिए इसको शास्त्र का इतने मात्र नहीं वेद के अर्थ का भी प्रतिपादन है इस पंचदश अध्याय गीता का जो मूल कारण है किंतु वेदार्थ से अभी वेद के जो अर्थ है विषय है वेद मान गीता का मूल वेद यदि गीता का मूल वेद न होता तो यह हो जाएगा सांख्य स्मृति जैसा हो जाएगा हम सांख्य वृत्ति को निंदा करते हैं इसकी प्रशंसा करते हैं गीता सांख्य आकर बोलेगा गीता को तुम प्रमाणित मानते हो और हमारे सांख्य स्मृति को क्यों प्रमाणित नहीं मानते हो तुम अब प्रमाणिक क्यों कहते हो क्या उत्तर होगा हमारे भगवान ने कहा इसलिए ये है हम प्रमाण मानते हैं मानेगा वो सांख्य कपिल भी भगवान है कपिल भी भगवान है वो ऐसा बोलेगा वो तो। फिर कैसे प्रमाणित करें जो वेद के विरुद्ध नहीं बोलता हो उसको प्रमाण माना जाता है जो वेद से विरुद्ध बोलता हो अप्रमाणित है बात इतनी है गीता भगवान ने कहा इसलिए प्रमाणित नहीं है वेद से अविरुद्ध है बातें हैं यहां इसलिए प्रामाणिक है और सांख्य स्मृति जो है वेद से विरुद्ध बोल रहा है इसलिए अप्रामाणिक है बात यह है मूल कारण भेद हो इसका भेद है ये कहते हैं ठीक है भाई कहा गीता शास्त्र सर्वस्व अर्थ संक्षिप्त केवल शास्त्र वेदार्थ में कहा न केवल इत्यादि कहा था सर्वस्व वेदार्थ यह परिसमाप्त है संपूर्ण वेद का अर्थ भी यहाँ विषय भी समाप्त हुआ है इस पद्धति अध्याय में कहा किस शब्द से कहा स्तम वेद सवेद भी देव को कहा ये इस माने ऊपर मूल वाला नीचे शाखा वाला दसदार वृक्ष है माने मूल उत्कृष्ट है और ये निकृष्ट है शाखा आदि लोक आदि लोक लोक रत्न आदि ऐसा समझता हो मूल के सहित उस मूल कारण परमात्मा के समझता हो एक को त्यागने के लिए ग्रहण करने के लिए कोई वेद के अर्थ को जानने वाला ही कहा है हाँ। तथा गमगमा इसमें कहते हैं यस्तम वेद सवेद बोला हुआ है वेद वेद से प्रमाणित है अध्याय हाँ। जो इसको जानता हो संसार वृक्ष मूल के सहित जानता हो वही वेद के वेदता है कहा वेद के जानकार वही है कहा भगवत तत्व ज्ञान है कृतकृतता इतने तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान तत्व ज्ञान में स्वरूप का ज्ञान निर्विशेष स्वरूप का ज्ञान होने पर कृतकृतता आ जाती है जब तक निर्विशेष स्वरूप का ज्ञान नहीं है तब तक कृतकृत्यता ही है कर्तव्य विशेष रहते हैं आगे ये कर्तव्य है ये कर्तव्य ऐसा रहेगा तब तक कहा तो उसके सिद्ध करते हैं विशिष्ट जो विशेष जन्म हुआ है विशेष जन्म में उत्पन्न है जो लोग मैंने चौरासी लाख मनुष्य जन्म विशिष्ट जन्म है यहाँ आगे के लिए पुरुषार्थ कर सकता है प्रारब्ध भोगता हुआ अन्य योनि में पुरुषार्थ नहीं कर सकता केवल प्रारब्ध भोगना है स्थिति ऐसी है एक विशेष स्थान है तो विशिष्ट जन्म प्रस्तुत है इत्यादि कहा था ठीक है कहते अन्यथा अन्य प्रकार नहीं हो सकता है भगवत तत्व का ज्ञान यही हो सकता है एक संसार में रहते हुए एक स्थान है मनुष्य शरीर अन्यत्र होना संभव नहीं उत्तम प्रबंध न च इत्यादि कहा था न च अन्यथा कर्तव्य में परिणाम पे जब तक भगवान का स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्तव्य की समाप्ति होती नहीं है कुछ रूप कर्तव्य सामने आएगा सत्य भी तत्व ज्ञान है कर्माम कर्तव्यवाद न कर्म कर्तव्य समाप्ति इत्यादि आत्मज्ञान होने पर भी तत्व ज्ञान में आत्मज्ञान भगवत स्वरूप का ज्ञान हो गया हम ब्रह्मास्म विभाग से ज्ञान हो गया होने पर भी कर्मणाम करते कर्म तो करना ही होगा ना कर्म करना ही होगा आगे भी देवता आदि के लिए कर्म करना ही होगा कर्तव्यवाद न कर्तव्य समाप्ति आत्म तत्व ज्ञान होने पर भी कर्तव्य समाप्ति कहा है कर्म कर्तव्य रहेगा कर्म तो कर्तव्य रहेगा ही तब भी यह शंका आगे तो कहा नहीं सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञान पर समाप्त यही चतुर्थ अध्याय बोल के आए सारे कर्म की समाप्ति हो जाती कब ज्ञान होने पर हाँ, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होगा आत्मा तो अहम ब्रह्माश भाव से ज्ञान होगा तो सारे कर्म की समाप्ति हो जाती नदियों की समाप्ति समुद्र में कर्मों की समाप्ति ज्ञान स्थिति है तत्व ज्ञान है कृतार्थता इत्यत्र मनोरूपी सम्मति वहां आत्मज्ञान होने पर कृतार्थता आ जाती है जीवन में अब कर्तव्य नहीं कृतम प्रयोजन अर्थ मन प्रयोजन भी है जिसने प्रयोजन सिद्ध कर लिया अब कोई कहा नहीं कहा इस विषय में मनोरपी सम्मति माह मनु मनुजी का भी सम्मति है मनुस्मृति में लिखा गया तद्धि इत्यादि का तद्धि जन्म सामग्रम ब्राह्मण से विशेषतः ये जन्म का सामग्री यही है आत्मज्ञान है मोक्ष के लिए सामग्री है और विशेषकर ब्राह्मण शरीर के लिए विशेष है ये जो उसके मैं समदमादि जन्मजात है अन्य के लिए बाद में आर्जन करना पड़ेगा समदमाद में पहुंचे बिना आत्मज्ञान होना संभव नहीं है स्थिति ऐसी है भारत इति संबोधन तात्पर्य हुआ भारत यह संबोधन कहा यह कृत्य भारत कहा हुआ है यह संबोधन है अर्जुन के लिए यह भारत बोल रहे हैं इसका तात्पर्य बता यत इत्यादि शब्द कहा था यत एतत् परमार्थ तत्व ये जो परमार्थ वस्तु है ना आत्मज्ञान मत श्रुतवान सी मेरे से तुमने सुना है अर्जुन तथा कृत्य कृतार्थत्व इसे आत्मज्ञान से तुम कृतार्थत्व हो गए कृतार्थता तुम्हारे में आ गई कृतार्थ तुम कहा तुम कृतार्थ हो गए हो प्रयोजन सिद्ध कर लिया जिसने उसको कृतार्थ बोलते हैं अब प्रयोजन कुछ रहा नहीं प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म किया जाता है तो कर्म की आवश्यकता नहीं तुम्हें अब प्रयोजन पूरे हो गए तुम्हारे सिद्ध हो गए हे भारत ये कहा है माने उसके वंशज का अनुकरण लेकर कहा तुम्हारे वंश में ऐसे लोग हुए सब कृतार्थ हो गए थे सब लोग तुम भी कृतार्थ हो गए वंश भरत का भरत वंश को उदाहरण देकर कहा मैंने तुम्हारे वंश में सब आत्मदत्ता थे ये कहना चाहते हैं तद अनेना अध्याय आत्मरो देहादि इस अध्याय के द्वारा कैसे सिद्ध कर दिया आत्मनो देहादि अतिरिक्त तुम आत्मा तो है ना देहा देहादि से देह से इंद्रियादि से पृथक है सिद्ध कर दिया है यहां देहादि अतिरिक्त तत्व आत्मना आत्मा में देहादि से अतिरिक्तता है आदि से इंद्रिय आदि जजहा आत्मबुद्धि हो रही थी शरीर में इंद्रियों में प्राण में मन में बुद्धि में ये सबसे अतिरिक्त आत्मा अतिरिक्त है और चिद्रूपत्तम आत्मा चेतन स्वरूप है जड़ नहीं देहादि जड़ है और आत्मा चेतन है सर्वात्मत्वम वो सर्वरूप है आत्मा मान व्यापक है सिद्ध कर दिया कार्यकरण विनय मुक्त अप्रपंच शरीर इंद्रिय का अभाव है आत्मा में शरीर भी नहीं इंद्रिय भी नहीं ये प्रकृति में है शरीर इंद्रिय आदि प्रकृति के कार्य है कार्य कारण कार्य कारण विनय मुक्त कार्य कारण भाव से रहित होने के कारण अप्रपंचत्व संसारी नहीं है आत्मा असंसारी है तस् अखंड एक रस ब्रह्मात्मत्व ज्ञानात् उस आत्मा का जो देहाद से पृथक है चेतन स्वरूप है आत्मा सर्वात्मा सर्वरूप है वो आत्मा और कार्य कारण से रहित होने से प्रपंच रहित है संसारी नहीं आत्मा तस्य उस आत्मा का अखंड एक रस ब्रह्मात्मत्व ज्ञानात् उस आत्मा का निरंतर एक रस निरंतर ब्रह्म में अहम ब्रह्मास्म ज्ञान के द्वारा ज्ञान होने से क्या होगा पुरुषार्थ परिसमाप्ति इति उक्तम सारे कार्यों की पुरुषार्थ की समाप्ति जो धर्म अर्थ काम तीन प्रकार के पुरुषार्थ की समाप्ति हो जाती है आत्म प्राप्त होने पर कोई कर्तव्य शेष रहेगा नहीं इसकी प्राप्ति होना संभव नहीं सब प्राप्त हो गया हाथी के पैर में सब पैरों का प्राप्ति हो जाती है समुद्र स्नान कर लिया तो सारे तीर्थों का स्नान हो गया इसलिए आत्मज्ञान हो गया तो सारा कर्म कर लिया उसने स्थिति है स्नातम तेल समस्त तीर्थ सजिले दत्ता सर्वा बने देवानाम चक्रम समस्त अखिलम यज्ञान चक्रतम समस्त अखिलम देवास्तित देवास संतर्पिता संसाराच समुद्रतासु पितर त्रैलोक्य पूज्योपेशौ यस्मिन ब्रह्म क्षण अपनी धैर्य मन प्राप्त ऐसा आया है सारे तीर्थों का स्नान उस व्यक्ति ने कर लिया जिसके एक क्षण भी ब्रह्माकार वृत्ति में मन बैठ जाए ऐसी स्थिति हो जाए प्रशंसा के लिए कहा स्नानम तेरा समस्त तीर्थ चले सारे तीर्थों में स्नान कर दिया उसने तीर्थ के जल में सर्वा बने सारे पृथ्वी को दान कर दिया अवनी पृथ्वी सारे पृथ्वी दान कर दिया समझो उसने किसने किसका यश्य ब्रह्म विचार अपनी धैर्य मना प्राप्त हो जाता जिसके एक क्षण भी ब्रह्म विचार में स्थिर हो जाए संसारा यज्ञान च कृतम समस्त अखिलम देवास संतर्पिता है संसारात समुद्रता स्वपितरा त्रैलोक पूज्यो कसव है सारे यज्ञ कर लिया उसने देवता सारे देवताओं को तृप्त कर दिया उसने किसने जिसका एक क्षण भी मन फिर हो जाता तो आत्मविचार में और सारे अपने पितरों को पार कर दिया संसार से समझो किसका होना है सब ऐसे ब्रह्म विचार क्षण अपनी धैर्य मना प्राप्त हो जिस व्यक्ति का एक क्षण भी ब्रह्म विचार में मन फिर हो जाए इसी प्रति ईश्वरानुग्रह ईश्वरानुग्रहादेव पुंसा अद्वैत वासना महाभय परित्राणा भी हो जाए ऐसे बोला ईश्वर की कृपा हो जाए अनुग्रह हो जाए ईश्वर भी ऐसी कृपा नहीं करने वाले आपका कर्म होगा पुण्य कर्म होगा तो ईश्वर करेंगे नहीं तो वहां वैषम दोष आ जाएगा ईश्वर में हम्म। आपने यदि पुण्य कर्म किया हो तो ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेंगे ईश्वर अनुग्रह देव ईश्वर का अनुग्रह से ही में मनुष्यों को अद्वैत संस्कार जग जाता है ईश्वर की कृपा होने पर अद्वैत वासना संस्कार अद्वैत के संस्कार तक जगता है महाभय परित्राणा ये जो अद्वैत के संस्कार है क्या काम करती है बोला करता है संस्कार महाभय का से रक्षक है महाभय से रक्षा करने वाला है संसार में जो जन्म मरण भय है इसे रक्षा करने वाला है कौन अद्वैत संस्कार है किंतु अधिकारी का दुर्लभता है द्वित्राणा में वजह है दो दो बा त्रयोबा द्वित्रा दो या तीन को द्वित्रा बोलते हैं बहुत मुश्किल से कोई एक आध निकलते हैं ऐसा अद्वैत तो संस्कार जग जाए ऐसे मुश्किल होते हैं ईश्वर अनुग्रह देव ईश्वर की कृपा से है ईश्वर भी आप कृपा नहीं करेंगे आपके पुण्यकर्म के आधार पर ही कृपा करेंगे ईश्वर अनुग्रह देव पुंसाम अद्वैत वासना महाभय परित्राणा वित्राणाम एवं जायते ऐसा है वो अधिकारी की दुर्लभता दिखाते हैं जो संसार से विरक्ति बहुत कम लोगों में है मुश्किल से है सुनते हैं सुनाते हैं या अलग विषय है किंतु तो अपने में घटाने वाले बहुत कम है परोपदेश देने वाले बहुत मिलेंगे अपने में आचरण में घटाने वाले बहुत कम होंगे स्थिति ऐसी है इसलिए द्वित्राणा में जाए थे बोला है दो या तीन ऐसा दिखाया है इस प्रकार ये पंचदश अध्याय यहां समाप्त हो जाता है आगे षोड़श अध्याय का आरंभ होना है जिसमें नवम अध्याय में कहा हुआ था हम्म, मोगासा मोग करबाड़ो मोग ज्ञान अभिचेतसा राक्षसम आश्रम चाहिए प्रकृति मोहिनी सिद्धा राक्षसी प्रकृति और आसुरी प्रकृति आदि की चर्चा हुई वहां और महात्मा नस्तुपार्थ दैव संपत्ति आश्रिता भजनते अनन्य मनुष्य ज्ञातवा भूतादिमव्यय जो महात्मा होंगे विशाल अंतकरण वाले होंगे जिनकी बुद्धि शुद्ध है वो तो दैवी प्रकृति होते कहा था वह संक्षेप में बता दियो आसुरी प्रकृति दैवी प्रकृति क्या है यहां पर उसका विस्तार करेंगे जिसको भावी उन्नति होनी हो उनके पास वो दैवी प्रकृति का आश्रित हो जाते हैं उसको अर्जन करते हैं तो भावी अवनति होना आगे तर्क यात्रा आदि भोगना हो उनके लिए आसुरी संपत्ति का अर्जन करेंगे दैवी संपत्ति 26 है दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति छह है मात्र छह है अब आप लोग अपने इच्छा के अनुसार ग्रहण कर सकते हैं दैवी संपत्ति ग्रहण के लिए 26 तत्व तो गया यहां आसुर इसमें थोड़े हैं वो वही ग्रहण करना सुलभ होगा हाँ। दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन नवम अध्याय में बीज डाला हुआ था मोगा सा मोग कर्माणो मोग ज्ञान अभिचेत सा राक्षसम आश्रम चाहिए प्रकृति मोहिनी श्रता महात्मानस्तु पार्थ दैव प्रकृति मास्त्रता भजंत अनन्य मनसो ज्ञातवा भूतादि भव्य ये दो श्लोक यहाँ बीज है उसके वो बीज है यहाँ पर उसको प्रफुल्लित करते हैं सोलह अध्याय सोलह अध्याय में दैवी संपत्ति वाले कौन है आसुरी संपत्ति वाले कौन है कैसे लोग होते हैं वो जान सकते हैं और हमारे में कौन सी संपत्ति है हम स्वतः जान सकते हैं और आगे हमारी क्या गति होनी होगी संपत्ति के आधार पर समझ सकते हैं और उनमें से संभलना चाहे तो संभल भी सकते हैं यदि आसुरी संपत्ति हो तो उसको भगाना होगा दैव संपत्ति कम हो तो आर्जन करना होगा अपने में कम जो गुणदोष होगा उसको हम दूरी कर सकते हैं कुछ आर्जन कर सकते हैं सुनने के बाद अपने आप ही समझ सकते हैं कहेंगे समय हो गया है रखते हैं फिर कर ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्णमेवावशिष्यते ओ शांति शांति शांति